तो कहीं भी जो है तो कहीं भी जो है राम जी की कृपा तो आज बात आदमी हो जो कि डॉक्टर साहब की घोड़ी ही घोड़ा रहता ही हाँ तो घोड़ी देखी देखी तो आप रात आती है तो सेन दीदी की गरीब आदमी हो मर्जी मार पड़ो डॉक्टर साहब खाली मार ले रात लिया दीदी तो क्यों रहा बोला आदमी फेर फेर तो बात में फेरी फेरी तो क्यों सा घोड़ी हुकुम देखी मैंने घोड़ी हिंगड़ा के है इंगड़ा तो इंगड़ा तो बेटिया बाबा तो कोई रोज लो जरा घोटिया तो बहुत गुनगु जरा घोटी बनी तो यूं कर नूरी रात छुट्टी बाद में कहीं गया है तो लड़को अबे है देखो आपने साथ से फट है साथ से जाज करो फिर अबे अबे बातें बीता करने रुका है अबे हेत प्रेम करियो है है जिम जुटन करिया है है आपरा खूब आनंद उचाड़ो बातें करे है हालाजी मिलिया સુરસોથી મળ્યા સારસોથી મળ્યા હેતીમલાથી मिलिया થેન્ક कहता हूँ आपरा आनंद मंगल भी आया तो कहने की जो है आपरा शाम ट्रेन में भोजन पानी सीम परा है आपरा जाए आपरा कमरा में होता है उन टाइम में मेरा लड़की आई आपरे पति आज प्रेम की जो है तो आपरा उदा उदा बात सीता कर रहा है तो कहीं बात करे जब आप मजाक किया फिर आप किस हाउस में घूमने आया तो आप कोई की मारी कोई चीज एड़ी लाया तो मैंने बस इस करो तो सेठ तो लड़को कहे ऐसा कि मैं और तो कोई चीज़ बस लायो को नहीं मैं तो मारो जिस हाउस में खूब कमाई करी इन बात आनंद मंगल दिया मैं आओ तोड़ो मारे दिमाग में आई जो को मैं अलग आगे की जे आयो अच्छा पलक आग भी लाया तो सेठी लड़की कह रहा है कि साहब आप पतिदेव एड़ा कोई अला झूठ बोल रहा तो मैं कोई देखा नहीं फिर अनिता को झूठ बोलो तो आप बात आपकी भावरत है कि काकड़िया तो हमारे गाँव में ये काकड़ियाँ बेब है लोग माली है बोली है सब लोग काकड़ियाँ बावे तो कहीं वह चार महीना छः महीना फल लागे फूल लागे फिर बाद में काकड़ियाँ लागे तो मैं जाती छः आदमी ना काकड़ी खाओ जड़ी मैं तो ओम साहब आप इतना झूठा मत बोलो पलक में काग लाग लागड़ी पग में घावड़ी हो कोई जिंदा तो थोड़ी है आ तो दूर है जगह फेरे कोई नहीं तो सेठ तो लड़को कह रहे ऐसा कि अब के ठग साहब हुआ मुनिया के हरू गुरु बातें करा जो को आप मैं कर बताऊँ तो आप चिंता कर देखो तो थाने जान पड़ जावे है आप हरू गुरु देख ले वो तो बातें करता करता दोनों चाल चौल करता आप मन में विचार करियो है तो कह रहे के सामने आपने काकड़ी लगाए और पकाए आपने बताऊँ तो निर्मित है आपने के हुक्म तो आप जाओ एक लोटो बन झूल लाओ मई मई तो आप सेठी लड़की के लिए आपने लोटो बन झूल लाई है लाइन आपने डिग्री करिए ये जल्लो लोटो मंगाए हो लाइन आप लोग मियाँ कबूचो कर पानी खुल गया पानी कोड़े ना बह पागड़ी ना पल्लों बीज खोल परो है ना भी सो गया सो गया कागड़ी छोड़ तक लागी तो दब के कागड़ी मारे आई है बारह हफ्ता पानी कहीं विचार परिवान जब कागड़ी लागी है कागड़ी लाग करी ये पदरे में पाग मूल भे जी पाग मूल भी तो वह छह तो लड़को कह देखो सा आपके साथ झूठी बात हंसी है झूठी की बात हंसी है सा अब माँ कागड़ी माँ छेटी लड़की हाथों थोड़ी है तोड़ परी अब माँ उन नहीं कारण आप आदि पति देव ने दिया आप ही नहीं है तो भी नहीं जो बीज रोकन कर लो के बीच सामने भाषो देना है तो जबकि आप लोग भी लेख लो आप लोग पागड़ी बलमान लियो है पागड़ी बलमान आप लोग खाए खूब आप लोग बाता चिता कर एन आपना दोनों जना हो गया है होता तो बाप रे हूँ आपना अन्न होता है होता तो अब होता होता राम जी की कृपा भी सुबह हुई है सुबह टाइम में उठा उठिया तो उठ पर आदमी की जो है छेटो लड़को आपना बन में गया लड़ने किया अभियान बन भोजन पर रात्रि उन डे में मियाँ राम जी कृपा भी आक्षेप करती है तो कहीं कह है एक राजपुत्र लड़कों बाप रे मंदिरों तो आउटे जोड़ जोड़ी गिरी है जाल क्या कौन सा क्या है हमारे तो एक पतिदेव एक चीज लाया है जो का आपने देखना हमारे को नहीं तो कह रहा है कि चीज है ये चीज बहुत भारी है फल में कागड़ी लागड़ी फल में खावनी तो अब आ जेठी लड़की बात करे है रात को लड़का उन टाइम ने रात को लड़को करे हे बेटी की बाप आता गजब क्रिया है तू परे मान लियो है कई दिन थारे मारे प्रीति ही अब तू है तू है छोड़ दे अब आज मारे प्रश्न है कौन जी तो आज जेठी लड़की कह वैसा કે બે માતાની મેલ્યું જાણવું પડી ઘણો મારો પડે મેં ઘણો ભાવ તૂટે કોની પણ જોડાવે નહીં ચાલે કોની પણ મેં જાણો પડી તો હવે કઈ કીધું જાવે કે ઓર તો ઉપાવ કોની છા હવે મેં આપને કેવળ વાસ્તે આવી હું કે આપ એડા વિચાર કરો કે આ વાત એ હાજરી જૂટલી હે નહીં પણ આપ એને બોલાવો તો આપ ચા પાણી કરો કોણ ચા કરો તો એનો હોળ માર લેવો वोट तो किसी को मार नहीं कि बस थाना मारो जी वैसे तो है ही तो वोट में मैं आज आपको तो आपा तो बड़ी भक्ति का तो पूरे राजपूत का लड़का रही कौन साहब ने जज की कि आप बात तो सही में है, है बच्चा वचन मांगा में जाए कटा मैंने कहा बात छोड़े भेजे तो आपने हुक्म तो जो है आप लोग ये ठीक है आप हाथ तो मारा पक्ष में खैर मैं कर ले हूँ તો લારની વાત કરી कि કે પછી હું ઉગણા કરનારો જામ તો મારા લડકી કહેવે સા કે ઓટ ઓળખું તો મેં જાણું जानू કે જાણું તો ઉગણું કોઈ દૂધ अच्छा आपने उगन को तो बाद में कर ले कौन सा आप छठा लड़का में बाद में कर ले तो ठीक फिर दोनों आपकी बात चिंता करी है आपने समाधा पक्का किया है अब सेठ की लड़की सेठ लड़का शेर की लड़की तो आपने घर की है રજાનો કમરો આપણે ઘરે સંસાર બેઠો ઘરે ગયો અમે હમજી કૃપા કઈ કીધો અમે અને રોટી રોટી જીમડા અને લગભગ દસ અગિયાર ટાઈમ દી તો કઈ કીધો पर मंगाया ठंडाई घोटी है अन्य पांच हाथ आदमी दे पंद्रह आदमी आएगा जीने घरे पावना आवे जमीन खावे सब कुछ धड़ा गया उन टाइम में पावना ने बुलाया कि साहब और मारे शेठा ने जमाई साहब तो मारी जड़ हो मारी गला बेटा भैया तो आया कहीं आपरा ठंडाई फंडाई गोटी खाना पीना किरिया माता चीता करे बेटा मोज करे अगला मिनट भेड़ा भी बड़ा उन नहीं हो राजपूत लड़को बोले है कह रहा है कि आप इस हम आया तो कई वस्तु लाया कई चीज लाया तो मैंने बताओ तो माई आपने प्यार करा आप हूँ क्या हुआ भाई यहाँ चीज़ वस्तु बहुत जोरदार लाया बिना किया माने कहीं ठा रहे तो माने ही तो बताओ तो खरी तो शेर तो लड़को कह वैसा कि वो तो कमाई घनी करी ऊँचे दिशा में कमाई घनी दिन बाद रही है मैं तो मारे ऊँटू कमाई लेन आयो राम जी की कृपा में बहुत ही आनंद पायो सब बात रही घटक को नहीं तो ला रहे मैं कहीं है एक बाजार में गई मूंग वस्तु मिली जो मैं पलक काट भी बीज लाई जो को कागज में कहीं कोने सा के बा पल में लाग जावे पल में वो बेटी हो जाए पल में कागज नहीं खावे अच्छा तो वे सब आदमी बैठा जगाने वो रात को घर भटको कहे है कम साहब कहे कि भैया इतना आदमी आप बैठा और बूढ़ा भी है नवा भी है सब आपा भाई लोग सब बैठा आ कोई आगे जिंदगी में डराई कोई देखिएगा बात चली बात हंसी है झूठी हाँ। तो लोग बुजुर्ग बुजुर्ग बूढ़ा बूढ़ा कह रहे हैं पल में ಕೇಸ ಫಲಮೇಕ ಆಗಲಿ ಲಾಗೋಡಿ ಮಾತದೇಕಿ ಪೋ बात तो उल्टी तो झूठी है हाँ आ तो हाँ वाला झूठी बात है यार आप हमारे मरीज कौन नहीं तो जो जो थे तो लड़को कहे सा कि आपने उगा फिर मैं बताए दे बता दे आपने कहा कि जिमा दे मुझे तो हाथ मान होगी वाकई में हाथ मान तो अब कहीं है कि आनंद वाला सेठ कौड़ा कर्म वाला जे घड़ी उगा वैसे तो चीज करने ही પણ હું તો મેં કોઈ માંગી માંગ કરીને કોઈ ઉગઈ तो ગુવાની કરે વાત હું તો જાળું કામ લેનો કે કવડાવે તો તો હવે કઈ ગયો કે છોકો ભાઈ નહીં કોની ભલે મેં કાગડી લાગ ઉડી જાય સા हाँ सर तो यूँ करो कि को सब आपकी छोटी बेली दी है आज आपने हार जीत करना तुमने फिर कल है और मोटी सभा बेली करा तो आप कागड़ी उगाई देवो फिर कागड़ी सभा ने खुआई देवो तो चालो थाना माने हार जीत तो अपने फौरी फौरी बात तो आप मार की जी जाके भरना अब कहीं गया तो है दोनों छह तो लड़को है लो ठगसाम को खबर हावड़ मारे है और मारे तो नहीं कहवा के साहब के थाना सुबसा जरा घर में छोकी चीज है सका हाल लगा उनको मारी हां मारा करे नहीं है कोई चीज अच्छी है पूरे आप पहले हाल लगा के पास ही तो यूं करने आपरा आपस में दोनों फौज मारी है और मार बाद में तय करिए मिन करनी है तो बाद में लिखा पटी भी है लिखा पटी गया एक पानो तो अन्य वो कौड़ो ले लियो अन्य एक पानो से तो लड़को ले लियो है मिन करनी ये बात है भाई ये तय भेगी तो हमें वो क्यों भाई कल आप आए कर लो सब भाई बेड़ा वे ये बात में निर्णय लेना अबे कल करीब करीब आठ बजे सब लोग आप इस जगह पर बेड़ा देना बात है करनी छोड़े जो कहीं वर्ष बने कहीं नहीं बने ये बात में मैंने कल लेना जो ठीक ठाक कल ले जो कहीं बड़ा है तो हमें कहीं मेरा सेठ लड़को खूब आपने मौज में फिरे आने वही फिरे अपने बाहर गिड़ गिरिया जावे बात में इतना करे गबोर खींच नहीं यार आपका प्रेम भाव करे के बात तय करी कौन करी कह लिया बात तय करी कहीं रिकवरी कर ली ये बात रो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ वाले थान मारा अपने बात भी बन जाए तो वहाँ मैं हमें कहीं है दुनिया में लड़ना पड़े दुनिया के ही तो आप लोगों का राज्य में बोलना लगा छोड़े बाहर भेजा डर बहुत है कौन हम्म। यो ठीक अब इन करता करता राम जी कृपा भी है निंद्रा बात बिनता करी फुलराम सेठ और लड़कों बात करे भाई बात करे सब बात करे आनंद मंगलू प्रिया श्याम राखन जो है रसोई पानी धीमे आए आराम के साथ रात को प्रिया गीत गाल करी है रात को प्रिया है कौन सा हम बातें करी करी श्याम राम जो ಟೆಂಪರೆ ಆಪರ ಚಾನ್ ಆಪರಿ ಗೊಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಡ್ ಕಾ ಪಡಿಯ तो बड़ी दो बड़ी फोर सगड़ी जान की दिन आपने का होता उठे ना लड़की जान उनकी उनकी तो बात जितना करे तो अब क्या है कि रात आप है जो को बीज उगा जान के ना आप कागड़ खाई दे तो रात बाता बाता में नींद आई कोनी आपने तो अब आपने नींद आवे कोनी अब और तो रे को तो वालों हाथ दे आप नींद ले लो अब तो अभ्यास करें तो शेर लड़को देखियो तो और श्री जात है कहीं कोई बीज को बात काल कर ली रात है फिर अब आज आप यार करें आप होता नहीं बड़े कोई देखी तो वह आप आप रहा वो और भैया ने तो अच्छे लड़की होती है ने शेर लड़को उठतो है उठतो और घर उन्हें निरात आई फिर है शेर लड़का उन टाइम में यहाँ लड़की उठी है उठी है तो वो बाग पल्लो हो पल्लो खाद करो बीस मिल है वे धौलपुर उनके गिरियो विरोध भक्ति वो विरोध में ले जाए तो मुंड भाड़ दी दी मुंड भाड़ बुझाए प्रो एंड फादर पागड़ सलमान लेकिन आपने हो गया उतरी आपने आराम करे जहाँ कह रहा है कि उतरी जात कम उतरी थी या करे तो राम जी की कृपा बने तो बाकी ए राम मुझ मार तो मुझ मार नहीं लुगई या करे आने जान नहीं है क्यों ऐसी बुद्धि भी है तो मरे ಹೋಗಿ ಗಿರಿವ ಆಬ್ರ ಪತಿನ ದೊಕ್ಕವ ಹತ್ರ ನಕರ್ गिरियो तो अब दिनू का सुबह टाइम दिया हर अब उठिया वो मार लड़की आपने गिरे दी वही आप लो टाइम दीदी वही उठियो सेठ और तो लड़कों बन में गियो आपको यहाँ बड़ा खिया लेन देन खिया रोटी रोटी जीनी टकरा जब आप करीब करीब आठ नौ बजे निकल गया वो टाइम नहीं है कोवडो आहे राजपूत रोजगार चव लागी त्यो किता करी आपा सपा भेली करा नाही किता करी आप बात करा तो टाइम रे नहीं आप कहीं सब सपा ने करी भेली करन कियो सा हमें है आपा है जो को काले और मारी जक्का बात रो निर्णय है जो को हाथ लेना चाहिए जो को छह का लड़का ने बोला तो काकड़ी होगा उठा पड़े नहीं पड़े कई बात बनी तो मोट है तो लड़को आयो तो पियो के साथ आप बात हाथ ली है ना बाबू किया तो कहीं कि जो है आप लोटो लाया जोड़ लो जिगली करी है रेतरी जिगली कर लोटो पानी में मंगा दो मैं तारू भी रो रोप रो रो पानी कूटो है तो इन गरीब करीब और छेकड़ी वेगी जित कागज को जरूरत है तो तो ठे तो लड़को विचार करो थारी माजर आज योर नहीं है ओ है ऊपर भूखो है अब हाँ, बात तो आपने गलत में तो विचार पड़ करो आप हमें और दुमनो दुमनो फिरे जावे कहीं गिर जावे जो कुछ बनी जो कुछ बन गई बना बोल जो पाप पापों बने कौन नहीं तो कहीं गिर है अबे वो इन फिरता फिरता सेठ लड़का ने बात याद आई कि उराई को बाबू आपने चार अंदर लिया फिर आपने हाथ लियो वो बाबो की के धारा भेड़ पड़ जा तो मैंने बुलाए तो आप हाँ, वो बाबो बुजुर्ग आदमी है फिर बूढ़ा है तो आप मैंने बुलाए लावा ना वो कोई उपाय बतावे तो बच्चा नहीं बचा को तो आप तो लड़को कहीं गिरियो आप रो सीधो गियो रो आगे राय का करे फाँचियो है जान पूछो तो साहब बूढ़ो बाबू आयो है नहीं मारे काले हाथ भी हो जो कटे है कहीं क्यों सा काल लाते तो बात करता है तो हटे तो जितने तो बाबा मेरे पड़ गई कि भाई कहीं काम आया क्या आपको काम पड़ गया तो भाई घंटा पड़ गई आऊँगी बाबा बोले पाड़ आया बात करी है दोनों कि कहीं बात हुई क्या बाबा हमारे तो हाँ बात हुई तो मैं बेटा मैंने क्यों नहीं मैंने तो चार मारा पिया लिया आपने कहीं बेटा हाफ चेत रही थी तो थारा में धोखो भेगो क्यों भेगो कि नहीं भेगो तो ये बात और तो मैं अरे इंजाम कर दे पर मैं कहूँगी तू जा कर तो अगन की जो है राय को बाबू की तू जा खातिर करे जो को ये लंबी नीट नहीं कराई थे नीट नहीं कराई थारे ऊपर लो हवेली तो थारा और आर मालियो है जगह में ये जीनी ने बयान दीजिए है उस जगह पर बाहन में खुल रहा नहीं लगाई दीजिए खाती ने कह दीजिए भाई नीच लो का तो साथिया हूँ तो राख देवी थी ऊपर लगाता देवे तो छेती में दे बोले नेड़ा दे बना देते પણ નીચલો કાતો હાથ મૂકે આદમીનો ઉગડા ચેડો ઉતરા यो ठीक अब ये जो आप लोग खातिर के एडमिशन कराई दी हमने कहीं जो है हम सब दरवाजा बंद करा दिया बीवी ने मुझे ले आन दी भाई मन मुझे जो हाथों लगाना आप नहीं चाहे और दूसरे के ऊपर सही भाई पूरी उम्मीद बेटी हमने वो कमड़ो उम्मीद के आप चीज आवे अपने हाथ में जेब में वो वक्त नहीं है कहीं गया बोल बयान पूरा बयान सभा बैठी वो टाइम में कहीं गया अबे बुलाए को बाबू आयो कने उनकी सा कई बात है के साहब हाथ जुड़िया है के पहले हाथ लगावे जो कुछ चीज और साहब ये है और नहीं है पहले हाथ लगाओ चीज नहीं है जो को अब तो हार का अब कौन साहब है जो सच्ची चीज हाथ लगाए तो कहीं कोने में लगा लो तो जब आप लोग हाथों पकड़ ऊपर चढ़े रुको जा पहले लाइफ हाथ पीढ़ियों के साथ आ गई है और लाओ करो कि आप लोग तो पाओ लोग तो आप लोग हाथ लागो नहीं लागो तो हाथ में पकड़ लो आप पहली चीज आई जाइए हाथ में क्या आई और गा तो आप लोग हाथ करते बाल दान सामने ले तो मारे नहीं चाहिए तो अब कागज पत्र दे क्या बने ले गया बादशाह ये भाई फोन तो हो जाए पहले हाथ लागे तो चीज मारी तो अब कहीं ये अब हमने वो रात गुजरो तो लड़को मोड़ो पड़को थारी मार जाड़ो थारी है नीति का फर्क नहीं है उनके कार्य भय कौन नहीं तो मैं कहीं करता हूँ अल्लाह और शहर तो लड़को है तो आप रहो राजी भी कुछ ही मनाई और मैं खियाल वगैरह सब खोल जाए खाचा घर अगला राति भी आ शहर तो लड़को राति भी हो मैंने शहर तो लड़को उठे लाओ खान पकड़ियो है कि भाई बुजुर्ग बुद्धि ने कोई पूगे कौन आना चार खर्च करिया मैंने हजारों रिजवानों लोग रिजवानों फायदो बाबो कर लियो આપામાં એટલી ઓછી રહેતી તો આપા બાર ઓળખું માર પણ આપણે મેં બુદ્ધિનો કાંટો જરૂર બીજું આપા તો કઈ કહેતા હતા ભણિયાળી મોત ઊંચીની સાથે નીચી શોખી તો આપણે બાર હાર જીત કેમ હતી અને આપણા વિવાદ હોયા ઓ તો બાબો બેન બચાયા દીધું લુગાઈ ગમાય એમ કરનો શેઠો લડકો મંદિરની ફાજી ભાતને ઉલટાઈ કે છેતા તું કરણો નહીં તો ભેગા એક દો દિનો શેઠો લડકો રહ્યો કાળકોટ કર્યા તો હવે કહે સા મને જીવ દીધું માં ઘરે જા તો હવે માં કહે કે મેં મેં પાવણા રોજના की रहे ये तो आवना दावना ही है तो वाह अब हो रहा है क्यों साहब आप लिया तो कोई अच्छी बात है आप जाओ पता आप रखने ठीक दे दें हम तो भली बात ठीक दे दी है फिर आप जवाई शाह ने भाई शाह ने कर दिया है अब उठूँ हवेली बाजार में ठीक दी है बीत दिया आगे गया आगे गया दर्जी दुकान के फूका तो दर्जी कह कहे कि जमाई सारे मैं कोर्ट करियो यूं करियो निरंजन करियो तो मैंने पहले दियो कोनी जमाई सा तो हाल की कोनी के के दिसा उन पूंजी लायड़ा एना कन तो पूंजी पूंजी की की कोनी एन छेटा ना करी फुटा गया एन के मने लेन लेन करियो को नहीं तो शेठ तो लड़को मन में विचार करे बेटिया बाबा यूं कोई कदर कमाओ के नहीं सा આ બી ઓમલી કે પાછ આ જને દે દે મદદારી સેવા બંદી કરી તો આ બરાઈ કે જો આ બે ઉજે તો લોકો દેખે કે આ બે મારગે ને પ્યાલી મે તો આ દાના અત્યાર શવા કરો લાયો ની આ બે ને દેવનો કોઈ કણા તો આ બે રાજકાબા બો તને હાથે દે મે તો બાબો કે ભાઈ કે ના પૂ તી વે નિયા મીના તારો હારો હે આ વાત છોકી થોડી લાગે અમે ઉ જમનારમી કે કે તે રીકેળ દડી ગુણ દીતો आगे गया तो आगे नाई जी तैयार क्या पावना खिदमत घूमते करी लेन तो देन करिया तो हमें कहीं दिया यार माने किन दियो ले को नहीं तो आगे राई को बाबू तैयारी तक था आपने नहीं क्यों जमा साहब ये मारना फिरने की जरूरत है यार कमाई पावना नहीं जाने खाना ही है लो साहब को आपने जाना बहुत बोलो मार नाका हमें आगा गया तो आगे होने से दुकान गया तो तुम्हारा होना पेरा या लेन देन क्रिया मान के मान राखी कोनी कहीं कोनी होनी की दुकान की ऊंची है तो दो इतना बेड़ा लाइट आपने मान दिया गोसा आपकी मोटा हो होने वाला हो तो दो इतना बेड़ा ले रहा अबे गया अबे दरवाजा पर गया फिर अब वो कहानी बोलियो कि जवाई साहब आप राख जाते उन्होंने ही एक आग मारी उधर काट दी आपने आपको खाना भी उड़ाया आग मारी फाची लाओ मैंने ले जाऊँ मुझे मैं हमारा फोन वहाँ काट दें हमें उन जात पर का पर का तो वो सेठ लड़को के थारी मार उन्होंने छोड़ने के लिए हो गए वो तो क्या हाँ काट ले हाँ साहब मैं तो फोन रुका हूँ दरवाजा तो नहीं हूँ मैं देखो आ देखो था लोग सब देख लो हमारी आँखें तो काट देने दी हूँ मैं क्यों जमे शाह खाना जाए तो मुंडा ला फलान संजीरा जमई है तुम्हारी तो आँख काट है दी हूँ अबे मेरे पास क्यों नहीं दे हजार और ही किता जरा मिल के मारे आप ले ठीक तो बाबो के भाई हाथ है छोकरा लेना मोटा मोकड़ा बेटा जगन के भाई लोहे की दे जो कमन करो ओखने कटाई बैठो जटे जान के हो के कोई हुयो बुकी हाँ, जो कोई जगह ये का हां का हां चौकी के ले मने जो को ले कारण बैठ लियो भाई लाए आंख ले दी लान दियो लोटा आप आंख तैयार है सा मान तुम्हारा तो काम है लेकिन जेब में गजुड़ी काट पे लोट साहब यहाँ में जमा वह कन्या अल्लाह के हाथ में देती लो हम हाँ, आप जमा दो कि मत जमाइना वह उल्टा ने राजी कर दिया कर वो कुछ उनको कुछ से ना तो उन्होंने मार काट दियो तो उठे बेचारा ना इतना काम आया ये करता करता सेठ लोट को आप रे घरे आयो है अन्य बाबू बाबा रे गांव आयो है तो उठे उदय भी को बाबू तो बुद्धिमान बहुत ही ऊंचा हाँ तो राम जी की कृपा बनी है लारू वीण ले मेरा आया हे रणचा भैया तो जेठानी राजी दी जेठ ही राजी दिया हे रण माता पिता राजी दिया हमने लोग ही राजी दी पर गिरफ्तारी होती कि भाई कटू निर्यार कटू आया बा मैंने कहीं जा अबे वो सेठ रो लड़को मन में विचार करियो जे हो राय को बाबा हाथ नहीं में तो अपना बेनिया पड़ाई थी पहाड़ी में तो सत्या आटा पी रहा आप आप खराब में अरे है सब जो आप जाते मुक्ति भेजे थी करना पे और शेर लड़को विचार करियो कि इतनी बुद्धि नहीं है तो आप ठगा उदय भी है उदय भी है दूसरा बात वो प्रोग्राम कर खेल भी बहुत होशियार क्या बे आप कोई है प्रेम राग रहा नहीं आप तो निर्लय प्रेम लेह नहीं आना इन तरह आदमी है जो पाक लिया है खैर सब बात आनंद मंगल दिया है खैर बात कर लिए मगर जो है अगला जमाना बात आए था तो हमें कहीं महादेव पार्वती आपरा वीर दिया वीर दिया तो है रटते रटते राम आकर निर्या है तो राम जी की कृपा भी है तो आगे गाँव में आगे जावे दोनों जना बातें करता करता तो आगे एक पंचानी हते ही आई है तो हते ही माते कहीं है तो आगे पंच बिराजिया पंच बिराजिया तो आगे बात जितना वह है भाई बलान जी हूँ बलान जी हूँ बलान जी हूँ मोटी छोटी बात आगे बात चल रहे तो कई दूर है दोनों महादेव पार्वती बातें हुई तो तो है तो पंचांग तो कहीं है के क्षत्रिय माता है छतो नर्स दोनों चालती आई है तो आ उरी बात वो करे उरी बात वो करे यूँ घर में दोनों ये पंच है जो आपस में बातें करे आपस में बातें करता करता पंचायत की चले है उन टाइम में है हाँ पार्वती जी बात होने हैं तो बात उड़ता उड़ता एक ही एक काटा तो ने महादेव के पार्वती चालो मापा ने मोड़ो गई तो कैसा ಆಗ ನೀನು ವಿರಜ್ಯಾಯ ಯಾರು ಮಾತಾಡ ಚಲ್ಲ ಅಪಾಯ ತೊಡಗಿನ ಗುಣ ಆರಾಮ್ಸಿ ಬಚ್ಚ ಉಪಚಾಪ ಚಾಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತು ಏನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ದೇವಿ ಅಡುಗುಣ ಬಿರಿಯೋ ಚಾಲ್ ಪಾರಪ್ತಿ ಅಪ್ಪನೆ ಮೊಡೋವೆ यार आप चल लो तो भारत दिखेंगे गरीब है वो तो बीज दिया है बीज दिया तो आप गरीब है उन देव में पकड़ेंगे आप भी पकड़ पैर नहीं तो वो पंचारकमा का नेता वो डैम हाथ में ले लिए कौन ले लिया पार्वती जी हाथ में ले लिया वो डैम नहीं है महादेव जी ने गुस्सा तो आयो कि भाई आप पार्वती एक बड़ो एक काम करियो है क्या आप है जो को महादेव दुनिया नहीं है मोटो देव है फिर आप ही सब दुनिया सेवा बंदगी करे फिर आप दुनिया की डरे है आपा कहीं ने जकारो इतो बड़ो दुनिया अपनो फायदो माने तो अब भारतीय अपनी स्पोर्ट लारे अपनी जोड़ाई थे तो आगे करे तो है अपना पैदा किरड़ा है जगह इतनी आ भारतीय संकोच समाज कई कारण आ मान्य है तो आ कहीं है के आप तो सब दुनिया ने भी अपना खेल हाथरा रचाया है तो आ भारतीय कहीं करे के हृदय पर वंश बैठा है जखम शर्म करके रहा पकड़ के हाथ में जीवी तो एक हीरो पार्वती महादेव जी कहे कि पार्वती बाद मैंने कारण बता कि आप है जो को पकड़ के हाथ में कई कारण लिया तो पार्वती महादेव जी ने कह रहे कि बाप जी आप तो एक मोटा हो ફેર આપ સીટને રચાવનારા હો આપ કોઈ એની વાત હો કોની પણ કારણ એટલો હે કે ઠેઠું ઠેઠ રામજી કુદરત બને હે ભગવાનના જીવડા સબ દિન હે તો ઠેઠું ઠેઠ આ લોલાગ કહેતા આપણે દુનિયા કે ભાઈ કે પંચ છે તે પરમેશ્વર હે અચ્છા પંચ છે તે પરમેશ્વર હે तो मैं कहीं कहो કે મારો જમારો ઓતરો है तो ओतरा जमारो मैं कहो कि भाई पंच है आगे नहीं विराजिया तो आप ओतरा जमारा है तो आप पकड़ के हाथ में ले ला तो कोई यहाँ पर राजा मरा इन तरह में महादेव जी पकड़ के हाथ में ले ली तो महादेव जी बहुत मोटो ऊँचो मानियो कि पार्वती मारो जबरा पंच है नहीं तो पार्वता जी कह रहे हैं कि साहब बाप जी महादेव जी मरा के काम फिर यहाँ टाप तो है कहीं तो फल जब रहा है कहीं तो आप जब रहा हो ये बात में तो काम फिर यहाँ टाप है जितने तो आपरा मन में आप मोटा हो मैं बंसारा मन में बंस मोटा है जितने पादरी चक्कर नहीं गए जितने कोई छाप पड़े कौन हम्म। तो महादेव जी बात रो थोड़ा मंदिर में गुरु मानिए गुरु मानियो है के भारत की आपने जोड़े दे रीति बात रो आप लोग सफादा करे तो अपने हाथों पैदा कर रहा है पंच सृष्टि आप रचैया जगह ने रहे कि काम पड़ी अटा पड़ी तो इतना मोटा आप आरती मान लिया तो अपनी जगह कई गति बने तो आप इस बात में इतबार ले कि पंच मोटा है आपा मोटा अच्छा तो पार्वती ने कह पार्वती जेटा काम पड़े जेटा आप याद रखना तो जगह महादेव मोटा है पार्वती सारा पंच मोटा है ये अच्छा बात कोई बात रुको नहीं तो ही आप रे महादेव पार्वती माता का करता जावे है रथ सार में आगे गांव कोद को गया आगे कोद को गया तो कहीं भी हो एक जाट हो जाट हो लड़को तो कहीं भी हो तो आप वीरनी लेव नहीं गयो जो आप हार वीरनी लायो है तो आप लाड़ को लेन आयो है तो एड़ा ही तो तंगो एड़ा ही तो तुमने बल અને કુટુંબનો આપણો છોકરો એડી ભીની તો આપણી બા સગડા દેતા આવે આવે તો આગે રસ્તે રસ્તે મહાદેવ પાર્વતી જાવે તો દોનું લોલ ગઈ મહાદેવ પાર્વતી વિચાર કર્યો કે પાર્વતી કે આપ આમ કંઈ કરા કે પાળા હલા તો લારે આપણે તાંગો આવે તો આપણે તાંગા પર બે જમા તો આપણે આગ લગાવ વરાંગા તો પાર્વતી દેવ મોદી કે માજી જી આપણે મિયાન લેવ તો આપણે બે જાઓ તો દોન ઘણી લોકો બાતા કરે જીતે તો તાંગો આ ગયો તાંગો આવ્યો તો મહાદેવજી કે ભાઈ તાંગાળા કોણ હતો કે સામે जाट हूँ अच्छा अरे कि ये गांव जानो कि हमारे आगले गांव जानो सामुंडा गांव है बेटे कि बाप जी आप है कि हमारे ही गांव आगे जाना है तो भाई तू एड़ो विचार कर माने थोड़ा वो गांव से माते बयान लगी के हुक्म आप जी आप मेरा जो खुशी के साथ बल्कि कोई गया वे कोनी आप तो संत हो तो आपको तो माते विराजो तो माने आनंद वाला फल मिली आप विराजो तो कहीं गिरिवाज आप रो अच्छी तरह टांगो हो रहा बलदा ने बताया है महादेव जी ने पार्वती ने माता जुगती साथ ज्ञान लिया है माता विराज का है रबे रस्ते रस्ते आप रहा के तो आग का खड़ता हो ते आपला नेटा ओले ओले मुद आपणा बाता करता बेवे यूं आपणा बाता करता करता हमें को नो को लोड को गया जितने वो जाटो लड़को जो को पेशाब इज्जत हुई पेशाब इज्जत हुई तो मतलब डाब हुआ इनकी बात ये अपराध पकड़ोगे मैं थोड़ा पेशाब करियो तो महादेव बाबू के जावे छा अच्छा, करियो मैं थारे बोल डाबू तो लड़को नीचे उतरी है वो आपने फिर बेटा आप कर आप क्या तो आयो सीधे बाप जी के जो है आप राम मतदान करने ले लिया महादेव जी महाराज बल खड़े तो अन्य बाप जी रो महादेव जी तब हमने मल संगा तो माते मैं बताए मल सुनना चालना रुपये गया तो जाटो लड़कों में विचार किया है कि बाप जी है મને રાખો આપણને કંઈ પણ કોઈ થાકર ના રાખવાની એને કોઈ કૂટે મારે રાખવાની એમ પણ ઘણી હાલે આપણા ઉલપાડી દે જેવું તો શંકા સમાજમાં કંઈ વ્યવહાર તો જાતો લડકો ઉલપાડે જટે આપની બહેન પાર્વતીજી બેઠા જગા જોર મેં આ બે ગયા ને મહાદેવજી આપણા કામો કરનારું બે તો એમ કરતા કરતા આપણા વાતા કરતા કરતા આગલે ગામ પાછા આવ્યા गांव बच जा तो जाए आपरान गांव रे में गया आप तांगो ढग्यो उबो उम ढग्यो तो जाटो लड़को दे बोलियो के बाप जी महादेव जी महाराज आप महाराज महादेव जी ने कहा आप महादेव जी बाप जी आप एड करो महाराज अब आप ही गमे उतरो मारे ही गमे जानी मारे जानो आप लोग नीचा उतरो तो काम है तो आगे हालो तो फिर मारो लाओ बोलना जाड़ मैंने दे देवो तो माँ जी कह रहे हैं बेटी का महाभारत धंधा कटे कि क्यों है विवाद का धंधा तो भाई लाट का छोकरा ऐं बात माता फालतू है ये हमको मैं घणो दौरो करायो बस घर दौरा लिया है थारा हाथ देखो तो मैं देखिए भाई टाबर है उन्होंने जमीन में कहीं पाला पे तो मैं मारा मन में नहीं आई थी मात लिया लियो बेटी अब आप अगर झूठ क्यों बोले है हैं तांगोर मारा है स्वपकं इव महादेव जी आपरा तांगा पतला धनी रहेगा तो जाकर लोगों मन में विचार करियो है हमें कहीं करियो जावे वो तो महाराज की नींद में बैठो है अन्य ताकत और दिश है अन्य हमें आप झगड़ो करा दो जावा नहीं <coughs> तो कई दूर हो आप लोग जाकर लड़को आरा लोग करी के बाप जी आप हेठा उतर जाओ भी मोड़ो में आपने मोड़ो में आप नीचा उतर जाओ मारे बल जी भूखा कि भाई दूसरी बात करिए तो मारा करे पापन वीडियो है यार मैं घोटो आते राखूँ थारा उतरने में तो उतर जा पाओ सांग हमारा है थारो टकी लेट है कौन तो, तो आप रो शेठो लड़को अकीर में ये बात करता करता शेठो लड़को हो जो खाई गो हो जो खान की हो कि साथ में झगड़ा करा तो તો દુનિયાબાર ભૂંડો કે મેળો ભરી હતી કે एक साधु है जगह वो आड़ू पड़े जाट है जात रहा तो लड़ाई कर ली तो यो शर्मा मरे फिर जाटा लड़का ने फिर मन में आई के आगु बढ़ रहा हूँ कहता यार बंडेरा कहता आया कि राजा जड़ विघ्न जोगी जानी उल्टी दी डरता रहे हो परशुराम ये थोड़ी ताड़क पड़ी तो भाग्या हो गदरी यूनिया माता जी को उठा नहीं तो चार दिन कर बे आए जो है तो मन में विचार कियो के साधु आंकड़ो आपने बेकार है जे साधु आप आंकड़ा तो आप गिरती बना हुआ है अपना में फिर आपने कमाई खाना है साधु की है ताकि कह देवे तो आपने जन्म रूप जियावे सालो साधु वाले कहीं है वचन सिद्धि है फिर फटकार बाज है जो आपने बोल देवे तो आपने जन्म रूप किया मैंने तो मैं ओ है जहाँ तो लड़को आप रो डर परो आप रो हबूरी कर लिए हबूरी कर मरा दे पी के बाप जी आप लड़ाई कर लो यहाँ जाऊँ पढ़ने आप रे जैसे जी करो तो महाराज कह रहे हैं कि भाई मारे जैसे जो कहीं करना है तो हाँ मैंने ये टूट जाओ मैं तो ये टूट गया थारे घर से आप रहो थार मार लड़ाई करनी है अपन है काम और मुल्क तुम्हारा है तो जाटो तो लड़कों को देख के बैठे हुए ये तो करा रहो और तो महाराज माने पन्नी चौकी में जाटो तो लड़कों हार मानी हार मान की हो के बाप जी एक बात मैंने आपने क्यों कहीं कोई मैंने तो राम जी गुरु देवेला कांगो देवेला बल देवेला है बात है ला पर आप एड़ो विचार करो क्या गांव में ये पंचायत रहता ही है तो अटे मीन बिराजिया है बरसी राम है तो आप चालो दोनों जना तो आपने न्याय कराऊंगा ಆಪ್ರವೇಯಿ ತಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಬಳದ್ ಸೊ ಆಪ್ನೆ ಮುಂದೇಯಿ ए मारा तो मैंने मुंह दे तो ये चार आदमी फंस भी रह जाए तो है ना आप हलो दूर दूर हाथ है तो आप पूछ लो जो को जे पूछे कड़ी जो को मने मंजूर है तो माँ जी जी थोड़ी खाना खाना कर मेरी फिर कहीं भाई बात रो पैर रो बढ़ जाए तो आपने झगड़ो मिट जाए तो आज ये क्यों है ले भाई मर्दान फोन दे फिर टमान दे फिर बचा अपन चाल तो अब कहीं जो मर्दान फोन दिया तांगर वो बांध दिया अब वो जाट में लड़को महादेव जी आपने हाथ भी दिया जाए आपने पंचाने तय पर बैठा बैठा तो हमें हर जगह जामिन मांगे तो जाट और लड़को हाथ जोड़ पंचन कह रहे हैं कैसा हुक्म मैं मारे हार गियो जको मैं मारे हार जान है आता आतान मेरे लेन आयो फिर आप बस बिरा जाओ तो मैं गेल गेल आवतो तो उस समय में महाराज ने दोनों धनी रुपये आवता तो मारे हाथ में दियो हाथ गो तो आगे आगे बेटा लाल लाल हाथ आऊँ आयो वो टाइम में बाप जी देख बोलिया कि भाई तू के गाँव जाए तो मैं भी ओसा में आग लगाऊँ जा हमला गाँव आए तो दो चार को आगे दो तीन को है तो ये गांव में जा तो बाप जी बोलिया भाई वो गांव हमारे साधन है तो इसी मन मात है और मैं आने तो मैं देखती हूँ वो साधु है अलबत्त संत आदमी है यार पाड़ा हाल है आपने कोई बोलते गया गए कौन मैं महाराज जी ने कहा बाबा जी आप आराम बिठा दो तो महाराज माता तांगा पर रहेगा माँ माता सीता करता अटे दूर आएगा और बाप प्रेम सब माता छोटी ये है अब आ गाँव गो गाँव आएगो तो मैं क्यों महाराज लाओ राड़ी मन दे दो फिर आप ऐसा हेटा उतरो फिर मारे जाने पड़े आगे फिर मैं जाऊँ फिर आप रहते गाँव में दूसरों को आगे हालत हो जाने हालत हो ठीक है तो महाराज कह है कि भाई तू तो झूठो है तांगो दे मैं बल ले आऊँ तांगो खड़े तो तो बात कर तो अब कहीं भी हुआ भगवान की कृपा भी है तो अब हमारे महाराज ने लड़ाई भी की है तो लड़ाई में हमारे ने मैं महाराज में हो जाऊँ तो बात कहता भार लागे ओंकारे बात प्यारी लागे सार बाबा सार दूबलास घोड़ा माता टार तो विश्व माता रहा विचार बात भली दिन पाधरा पेंडे पाकी जे घर मिंडल घोड़ा दिने लाडू मारे चोर बात भली दिन पाधरा पेंडे पाकी बोर घर मिंडल घोड़ा दिने जरा लाडू मारे चोर तो इतना समाज होकर महले कानी मान सरोवर સમંદર है मान सरोवर સમંદર है माते हंस और हंसनी आप निवास करें या न्यूट में रह रहे क्यों कि मोती चुकने वास्ते घना मारे उन्हें आराम गणो और हवा घनी इन वास्ते वे मार चुको ही मोतिया व्याग्रह है मान सरोवर में मोती चुगने वास्ते विभिन्न जगह ही एक समय की बात है एक जो काग है આને बैठो एक આંબલી રે रमत है હંસસ बैठा है आमली હે मत રૂખ और काग और કાગલો तो अड़ी बैठक लगाई बिना आमली बात है कि सात दिन तक नहीं तो वो काग बोले नहीं कुछ चुगो करने जावे नहीं आगो पाछो है हंस और हंसनी हमें बेटा देखे तो हंसनी पूरी पांच छह दिन तक निगे राखी के ओ पंछी है आगे पाछ नहीं हो नहीं बोले है नहीं चाले है बात कहीं इन्हें पूछना जरूरी है हंसने कही हंस हंसने ने हंसने ये हंस और जानवर है इन्हें पूछो तो खरीद वो तो कौन है जान पूछो क्यों बैठो हंस हंसने जाए आज वो नमस्कार करें हे देवता पंची राजा आप पधारे हो आज पाँच सात दिन हुई है आप पानी खाओ नहीं हो चुगो करो नहीं हो पानी पियो नहीं हो आगे पास हो नहीं हो ये तो आप कहीं नेम है मैंने आप बताओ तो करी तो काक बोले हैं क्या भाई थे दोनों लोग लुगाई हो हमारे ठा है मैं थोड़े बात क्यों नहीं चाहूँगा हाँ। કે બોલતો તો નહીં મારે હે મેં મુની મૂન ધાર્યુડી મારે આ મૂન છે મારી ખોલાક તો મેં એવું નહીં બોલું કે થે થને દોનોને દેખ હંસર હંસણીને મારી આત્માને માને દુખ્યું क्यों दुख हुआ है કે થાને એટલે ખાઉને નહીં પીવું નહીં થાનો એટલે ખાણ પૂરું મિલે નહીં એની વાસ્તે મને પૂરો હોચ આવે છે હંસ બોલ્યો क्यों सा हमारा मान स्वरूप में कोई बात तोटो नहीं है बड़ो समुद्र है इनमें कोई बात तोटो नहीं मार तो सब बात आनंद है तो पाचो काक बोले हंसवरण बोले गणपति तो इनमें आनंद करने बहेगा अरे वो आनंद नहीं है आनंद तो कुछ और है और कई समुद्र है समुद्र से तो देखे हुए नहीं हंस और हंस नहीं विचार करें કે અડો ભલે સમુદ્ર કેની જાગા કે મારો સમુદ્ર થી નહીં દેખ્યું મારે સમુદ્ર હે તો દરિયા આવે ચારું મેર દરિયા આવી છે બા દરિયાનો માને હરદમ में हीरा पना जोहार कानी कानी बिगड़ता ही रहे थार तक होने पूरा तर नाश्ता ही पूरी व्या पूरी है कम हीरा है अरे हमारे देश में बहुत हीरा है जे छे हमारे देश में हल्का हो बड़ा आनंद कागरी बात हूँ 我认识的也是那个人噻。啊，他把这五个人把多少钱付了，他把你母亲阿子你啊。तो ये ना तो हाल नहीं जाऊं कि कोई बात नहीं थारी हिम्मत है तो आलो तलो सो काक देवता आप पहुंचने में हमने तैयार पर माने हमारी पेट भरे पूरी होनी चाहिए हम सनसनी हाथ पीर का के मैं उड़ू हूँ मारे लारे लारे लारे लार थे उड़बो के मैं हमारे देश में थाने ले जाऊँ तो इतना समाज हो गए मायले कानी काग आमली बात उड़ान करी है उड़ान करी है अटी ने हंस और हंसनी भाई लार लार उड़ान अब तीन भी फरा वाह भी हुई बैठा बैठा बैठा बैठा बैठा पाँच सौ कोशक देश हो कागलो तो वो तो दो तीन को काग गयो है तीन का तीन कोष रे माने कागलो टूटे पाका हार गई वो है तो प्रण डूब डूबो पिंटे में हंसनिक है हंसा वो जानवर छोटो है और थाक गो इन वास्ते के इंजाम करना चाहिए क्या आलोक ने मुनि विराज के भाई रोटी खाऊनी पानी पीऊनी अंदर लूनी इन वास्ते तो हमारा शरीर है दुबड़ो यूड़ो है मैं और भजन किया करूं मैं तो दो निश हूं दूसरे दिन हाल हंस बोले आप यू करो आप हमारे माथे बैठ जाओ तो हंस है काग ने माथे बैठा आप उड़ान करिए आगे हालता हालता पचास एक कोस मार जा रहे हैं और हंस हंस ने क्या आपने प्यास लगी है थोड़ा पानी तो पीला लोग आग देवता आप बेटा उतरो